आरती रघुवर लाला की सावरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की सावरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की सांवरिया नयन विशाला की कमल कर धनुष बाण दारे सलौने नयनारत नारे छवि लख कोटि काम हारे अलख की बलन पलक की चलन पीट पट हलन लटक सुंदर बनमाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया नैन विशाला की संग शोभा की खाली विराजे जगत जन निराली प्रेम भक्ति रस की दारी भरत से वीर लखन रणधीर प्रजा की भीर शत्रुघ्न रूप रसाला की आरती रघुबर लाला की सवरिया नन विशाला की सदा तुम दीन हितकारी अधम के वट सबरी तारी सिद्ध के कर्म गति नारी सुरन की ईद कौशल्याधीश रक्ष जगदीश तम्बु सुख पाला की आरती रघुवर लाला की सवरियानन विशाला की चरण चा पतयंजन को लाला प्रेम रस बाटत दीन दयाला बरस रही पुष्पों की जय माला भक्त भय हरण सदा सुख करण हरिले शरण जान के नाथ कृपाला की आरती रघुवर लाला की नन विशाला की तवरिया नन विशाला की आरती रघुवर लाला की तवरिया नैन विशाला की सुना है तारे है तुमने लाखों हमें भी तारो तो हम भी जा रे सुना है तारे है तुमने लाखों हमें भी तारो तो हम भी जाए रे उबारा है गजराज ग्राह से उबार गजराज ग्राह से है हमें उबारो तो हम भी जाए रे सुना है तारे तुम हम है तुम लाखों हमें भी तारो तो हम भी जाने हरा यहिल्याम का तुम तुमने मिटाय सबरी का पाप तुमने हमारे भी साप ताप भगवन अगर निवारो तो हम भी जाने सुना है रे है तुमने लाखों हमें बिताए तो हम भी जाए रे निशाचरों को संघार तुमने उतार पृथ्वी का भार तुमने हमारे सिर पर है बोझ भारी उसे उतारो तो हम भी जाए रे सुनाहता रे है तुम को हमें भी तारो तो हम भी जाए रे सुनाहता रे है तुम को हमें भी तारो तो हम भी जाए रे हमें भी तारो तो हम भी जाने जैसे ही कुछ से सुना वेदेही वृत्तांत वीर भूमि पर सुधा सम बरस उठा रस शान क्षमा मांगने को बढ़े जब दोनों रणधीर हृदय लगा कर प्रेम से भेटे तब रघुवीर पुत्रों का निज पिता से यह प्रिय मिलन निहार सुरपुर से बरसे सुमन गूंजे जय जय कार लक्ष्मण ने निरखे जभी दोनों रूप अनूप कहा अमंगल रण हुआ आज मांगलिक रूप आशीष देने के लिए इन्हें प्रत्येक हृदय उमड़ाता है अभिवादन करने को इनका रघुकुल का दल उमगाता है यह हार नहीं है जीत हुई अपयश के भीतर यश पाकर कौशल ने निज पर जय पाए परिपूर्ण पराजय में आकर अब इसका निर्णय कौन करे किसने यह युद्ध स्थल जीता कौशल ने यह दोनों जीते या बदले में कौशल जीता या जीत हार के बदले में परिणाम हुआ मनचिता सीता ने राघव को पाया राघव ने पाई सीता हे राम रमापति मायापति नव यह लीला संवरण करो साध्वी सतवंते सीता को सबके सम्मुख फिर ग्रहण करो रघुपत बोले सिया से पृथक न होगा राम किंतु करेगा नहीं वह प्रजा विरोधी काम संसार सहस्त्रो रूप रथे पर मुझको डिगा नहीं सकता राघव को प्रजा विरोधी नृप ब्रह्मा भी बना नहीं सकता मेरी इसमें सम्मति ही क्या सारी सम्मति जनता की है वनवास वही दे सकती है रणिवास वही दे सकती है बाल्मीक जी कह उठे धन्य तुम्हें रघुराज प्रबल पराकाष्ठा हुई प्रजा प्रेम की आज मेरी तो सम्मति यही करो न ऐसा काम जिससे जिसके द्वारा विश्व में रघुकुल का बदनाम जनता के मत से हो विरुद्ध राजा का चलना ठीक नहीं जब प्रजा विरोधी है तब तो सीता का रखना ठीक नहीं उस यज्ञ प्रजा ही का पहले अज्ञान मिटाया जाएगा जिस दर्पण में धुंधलापन है उसको चमकाया जाएगा इतना ही में सिंहवत गरजे पवन कुमार निश्चय श्री मुनिराज का है अति उच्च विचार मैं भी दृढ़ता से कहता हूँ यह झूठा दोष मिटाऊंगा महलों में अपनी माता को अपने बल से पहुँचाऊँगा कानों के द्वारा सुने नहीं आँखों देखी बतलाऊँगा उस बहके हुए अवधपुर को साध्वी का ज्ञान कराऊँगा फिर भी विश्वास न होगा तो जनता से रणठन जाएगा यह सहन शक्ति वाला हनुमत साक्षात रुद्र बन जाएगा पृथ्वी आकाश बिलोकेंगे उस समय धर्म इस सेवक का चतुरानन शंकर देखेंगे उस समय कर्म इस सेवक का तापसी प्रकृति का दुनिया से अस्तित्व मिटाया जाएगा सद्गुण के सामग्री से फिर संसार बनाया जाएगा यह जीवन सफल तभी होगा यह आंखें सफल तभी होगी जब पथ की वा मांगी कौशल की साम्राज्ञी होगी वचनों से बजरंग के दहल उठा संसार हुआ विरोधी जगत में सहकारिता प्रसार